मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहार सदबुद्धि हो सदबुद्धि निश्चय मे अभिवृद्धि दो निश्चय मे अभिवृद्धि दो जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद जय सचिदानंद सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नौ कलमों सबसे पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है हे दादा भगवान हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહદારી જીવાત્માનો મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ દેહદારી જીવાત્માનો મને કોઈ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી એવી સ્યાદવાદ વાણી શાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને અને મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનું મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ ધર્મનું મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી શાદવાદ વાણી એવી સ્યાદવાદ વાણી શાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહદારી ઉપદેશક મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અવર્ણવાદ અપરાધ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહદારી જીવાત્મા પ્રત્યે મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય ક્યારેય પણ ન કરાય ન કરાવાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ शक्ति आपो एवी परम शक्ति आपो હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહદારી જીવાત્મા સાથે મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા કઠોર ભાષા તંતિલી ભાષા તંતીલી ભાષા ન બોલાય ન બોલાય ન બોલાવાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી પરમ શક્તિ આપો કોઈ કઠોર ભાષા કોઈ કઠોર ભાષા તંતિલી ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે તો મને બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહદારી જીવાત્મા પ્રત્યે મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુસક સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુસક ગમે તે લિંગધારી હોય ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ ચેષ્ટાઓ વિચાર સંબંધી દોષો વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય ન કરાય ન કરાવાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી પરમ શક્તિ આપો મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો એવી શક્તિ આપો સમરસી ખોરાક લેવાય સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી પરમ શક્તિ આપો हे दादा भगवान हे दादा भगवान मने कोई देहदारी नो मने कोई देहदारी नो प्रत्यक्ष अगर परोक्ष प्रत्यक्ष अगर परोक्ष જીવન અગર મૃત્યુ પામેલાનો જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈ નોય કોઈ નોય કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અવર્ણવાદ અપરાધ અપરાધ અવિનય અવિનય ન કરાય ન ન કરાય કરાવાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ परम शक्ति आपो एवी परम शक्ति आपो हे दादा भगवान हे दादा भगवान मने जगत कल्याण करवानु मने जगत कल्याण करवानु निमित्त बनवानी निमित्त बनवानी परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद આપો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ जगत में जगत कल्याण के लिए तीन महापुरुषों का हमारे पर बहुत उपकार है हम सब जानते हैं संत पुरुष सत पुरुष और ज्ञानी पुरुष इन तीन पुरुषों का हमारे पर इतना उपकार है जिनकी वजह से और जिनकी कृपा से आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वैसे तो सभी लोग अपने गुरु को ज्ञानी ही मानते हैं और मानना ही चाहिए मगर ज्ञानी पुरुष दो तरह के होते हैं एक शास्त्र ज्ञानी और दूसरे आत्मज्ञानी जिन्होंने जो शास्त्र का अभ्यास किया है जो शास्त्र को पढ़ा है जो शास्त्र को रटा है और अपनी ही बुद्धि के आधार पर उसको समझा है और समझने की कोशिश की है वो शास्त्र ज्ञानी कहलाते हैं उनको भी हमारा नमस्कार है और दूसरे आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं अनुभव पुरुष होते हैं उनके जो भी वचन है उनकी जो भी वाणी है वो ही शास्त्र बनती है इसीलिए संत पुरुषों की कमी हिंदुस्तान में और दुनिया में नहीं है बहुत से है लाखों की संख्या में होते हैं जो हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है और व्यसनों की मुक्ति से समाज सुधारने का कार्य करते हैं और कर रहे हैं संत पुरुष जिन्हें अभी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है आत्मा क्या है उनकी तलाश में वो अभी साधना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं साधना कर रहे हैं कुछ भी करते हैं मंत्र जाप करते हैं त्याग करते हैं उपवास करते हैं कोई भी मगर अभी वो कर रहे हैं और हम सब जानते हैं साधन मुक्ति के लिए किया जाता है मगर जब साधन ही बंधन रूप हो जाता है तब कोई उपाय मुक्ति के लिए बाकी नहीं रहता है इसीलिए साधन साध्य की प्राप्ति के लिए होता है जब गुरु ही हमें कहे कि अब यहां से आपको कहीं जाना नहीं है तब गुरु भी हमारे लिए बंधन बन जाता है क्योंकि गुरु के चरण में हम जाते हैं मुक्ति के लिए तो हमें गुरु जी को कहना है हम मुक्ति के लिए आए हैं आपके पास बंधन के लिए नहीं आए हैं तो जो शास्त्रों की बात करते हैं समाज सुधारने की जो बातें करते हैं वो संत पुरुष है उनको भी हमारा नमस्कार है दूसरे पुरुष आते हैं सतपुरुष सत माने सत्य नहीं सत अविनाशी तत्व आत्मज्ञान जिन्हें ज्ञानी पुरुष की कृपा से हुआ है वो सभी सत्पुरुष है वो सत्पुरुष हमें ज्ञानी पुरुष के बारे में बता सकते हैं मगर वो आत्मा का ज्ञान आत्मा का भान उसका अनुभव नहीं करवा सकते इसलिए मोक्ष सुलभ है मोक्ष बहुत सुलभ है मगर प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का होना वो बहुत दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ है संतों की सेवा की जाती है सत्पुरुषों का पूजन किया जाता है और ज्ञानी पुरुष का दर्शन किया जाता है उनकी दृष्टि मात्र से हमारे इतने अंतराय हैं वो सब टूट जाते हैं दृष्टि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से मोक्ष का सिक्का लग जाता है तो भावना सबको रखना है जिसका जैसे योग आता है वो आएगा ही मगर जिसकी भावना है उनको सिर्फ ज्ञानी पुरुष के दर्शन से ही प्राप्ति हो जाती है इतना बड़ा सौभाग्य आज हमें सभी लोगों को मिल रहा है और ये अलवर की पवित्र भूमि पर यहाँ आना ये भी हमारे बहुत बड़े पुण्य का उदय है तो इनका विनय से दर्शन करें पूरा लाभ लें और ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में जो भी हम भाव करते हैं वो अवश्य परिणाम में आता ही है और ये हमारा सबका अनुभव है इसलिए बुद्धि को अभी थोड़ी देर के लिए विदा करके ज्ञानी पुरुष का दर्शन करें उनको सिर्फ देखते रहे मैंने बताया ना ज्ञानी पुरुष सिर्फ अपनी जो भी शंकाएं हैं हमारी जो भी जानने की जिज्ञासा है प्रश्नों पूछने के लिए ही ज्ञानी पुरुष होते हैं तो निसंकोच आप जरूर प्रश्नों का समाधान कीजिए क्योंकि जिनको इस दुनिया में कुछ जानने को बाकी नहीं रहा है फिर भी मैं कुछ भी नहीं जानता उस तरह वो अपना जीवन जी रहे हैं तो हम जरूर लाभ लेंगे दादा भगवान के शब्दों में कहा जाए तो कनु दादा जी हिंदुस्तान में दर्शन करने योग्य अगर कोई पुरुष है तो वो कनु दादाजी है और जो हमारा स्वरूप है वो ही उनका स्वरूप है अलग नहीं है हम मगर दर्शन से हमें बहुत लाभ मिलता है इसलिए मैं आप सभी लोगों को चरण स्पर्श करके नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं वास्तव में हमें विनय बनाए रखना है हमको जरूर लाभ मिलेगा वास्तव में ज्ञानी पुरुष हमारे दर्शन चाहते हैं क्या चाहते हैं हमारे दर्शन चाहते हैं और हम उनके दर्शन चाहते हैं तो ये लाभ हम जरूर लेते रहेंगे ये विश्व में सुख और शांति हो ये विश्व में सुख और शांति हो ऐसी करुणा कर देना ऐ ऐसी करुणा कर देना दिल भीतर के सब तिमी हरो दिल भीतर के सब तिमी हरो तार जोर से गाइए परमात्मा तरण तारण परमात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो ये विश्व में सुख और शांति हो ज्ञान सनमो सब जीव को आत्म प्राति दो सब जीव को आत्म प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा शुद्ध अंत स्थल की जगमग जो शुद्ध अंत स्थल की जग जगमगजो केवल ज्ञान में सिर करना The. मरण विश्व सुख और शान सच्चिदानंद कांति आनंद जी ने जो बताया जो फरमाया संत पुरुष सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष तो ज्ञानी पुरुष की भावना जो है वो जगत कल्याण की है क्या है जगत कल्याण की सारे जगत के जीवों का कल्याण ये कल्याण की भावना की वजह से ही सारी दुनिया में सब जगह पर घूमते रहते हैं दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो না ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા અસીમ જય જયકારો હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हाँ, मेरे महात्मा गण हमारे हाँ, महात्मा गण जो इस तरफ से है मेरी भारत आर्य नारियों का वृंद है सभी सभी वय के और यहाँ भारतवर्ष के आर्य जीवन जीने वाले का सनातन संस्कारी जीवन वाले है सभी वो अपनी भारत की संस्कारिता है सनातन स्वरूप से तो हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से खुद को दुख न पहुँचे और हमारे कारण दूसरे को नुक न पहुँचे अर्थात घरेलू जीवन में ये सर्वप्रथम बनना बहुत बहुत ज़रूरी है हम सबके अंदर आज हमें हम एक बात बता देना चाहिए मेरा समग्र अनुभव है ये शरीर के साथ रहते रहते दादा भगवान के अखंड आत्म अनुभव के प्रमाण से कि अब सब में मैं हूँ ये मेरा अंतर से है जिसको देह है वो लाख चाहे मुझे उनके अंदर न रहने दे फिर भी हमेरी एक ऐसा योग है कि हम सब में रह सकते हैं हम्म। ये आत्मज्ञान विद्या है सबसे बड़ी विद्या है हुँ? हम्म। और सभी में आत्मा तो एक एक ही का सरी का है तो आज इस सनातन क्या बताया सनातन स्व संस्कार केंद्र सनातन स्व संस्कार केंद्र उसके भाई बहन की जुदाई नहीं होती सभी के लिए एक ही है वो यही उसका सही समझ सबको मिलती रहे ऐसा ये हॉल ये केंद्र काम कर काम करता रहेगा और हमारे अलवर भाई अलवर वासियों को सबको बच्चे से होकर बड़े सबकी लोगों को सही लाभ मिले उसका जैसा जैसा जिसको समय मिले और हफ्ते में दो दफ़े मंगल मंगलवार और रविवार समय तीन से पाँच होता है वो आप लाभ लेते रहिए और घर में हम व्यवस्थित रखते हैं घर तो हमें कितना अच्छा लगता है वैसा देखो हम व्यवस्थित हो गए तो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा रहा ना ये बात है शुरू में दर्शन में तो होता ही है दुरुस्त तो होता ही है हमें खुद को देखना मिलता है ऐसा कहाँ मिलता है बताइए हम अलग देह हैं फिर हम खुद को मिलते हैं किसको <laughs> ऐसा स्वाद आता है समझ में आता है हाँ, एक ज्ञानी पुरुष का ये अंतर का अंदर का आत्मज्ञान विकास का स्वरूप है तो आहिस्ते आहिस्ते सत्संग करेंगे छः बजा है पूरा एक घंटा सत्संग करेंगे अगर हमसे पाँच दस मिनट ज़्यादा ले गए तो भाई मुझे माफ़ करना चलेगा साहब चालो अभी चालू करते हैं अभी हम्म। अच्छा बाकी के पाँच दिन हमें मालूम हुआ कि आप कंपनी गार्डन कंपनी गार्डन में मिलते हैं और एक एक स्पेशल बहनों के लिए मैं ख़ास बताऊं कि एक साथ तो सब बहन मिल नहीं पाती लेकिन सभी केंद्रों में ऐसा चल रहा है बहनों के लिए कि कोई हफ्ता का दिवस ऐसा नक्की करते वहाँ गुजरात में तो कोई बुधवार करते हैं खास करके खास करके और इंटरनेशनल सभी प्रदेशों में भी ऐसा हो गया है कि बहनों तीन से पाँच का समय निकाल के मिल के अपनी अपनी बात कर ले और सत्संग कर ले जैसे शिलवंत आप तो पुत्र आपको समझाएंगे और हर एक का वो सत्संग में अपना लगेगा कि हमेरा ही सब हो रहा है हमेरा ही हो रहा है इतनी बहनों अपने आप में आपस में कर ले जिसको जिसके घर रखना है वो रख सकते हो हुँ? हम्म? और ऐसा रोटेशन में होता रहता है लेकिन सब तो सभी जगह नहीं मिल सकेंगे नहीं तो एक जगह ठिकाना कर लेना लेकिन बहनों खुद अपने आप करते रहना सब मंजूर है तो आप लोगों को सब सब उसकी व्यवस्था करेंगे तो, तो जयपुर रहती है हाँ और तो मम्मी जी को बोलते हैं उसको खींच के ले आना यहाँ <laughs> अच्छा चलो हम सत्संग चालू करें क्या अभी जिसको पूछना हो आज तो पहला दिन है लेकिन सही सत्संग का लाभ सबको मिले और सही सत्संग बनता रहे वो हमेशा प्रश्न और उत्तर इस ढंग से बनता है अभी हमारे सभी शास्त्र ये प्रश्नोत्तरी के स्वरूप में आए हैं सारा गीता और गीता ज्ञान ये प्रश्नोत्तरी के स्वरूप में आए हैं किसका प्रश्न तो जो समझने मांगता है जीवन की समस्याओं का और जो उत्तर देते हैं वो ज्ञानी पुरुष कृष्ण भगवान ने खुद ही गीता में बताया है वेद व्यास जी के कृत गीता में कि जो चार प्रकार के भक्त होते हैं उसमें से जो ज्ञानी वो मेरा हृदय है क्या बताया है ज्ञानी मेरा हृदय अर्थात ज्ञानी वो मैं हूँ तो ये काल में भी ये हो सकता है ज्ञानी और ज्ञान प्राप्त के वो सभी ज्ञानी बोले जाते हैं लेकिन उनका जब समय आता है अनुभव का प्रमाण से तो ऐसा बनते रहते हैं और वैसे तो दादा भगवान की कृपा करुणा से कहीं कहीं लोग इतने ज्ञानी टेंस ऑफ थाउजेंड्स जिसको बोलते हैं दस हज़ारों की दस दस हज़ारों की संख्या में हुए हैं हुँ? हम्म? तो ये कोई काल में बना नहीं एक ज्ञानी से ज्ञानी पद पाया हुआ इतना संख्या वाले लोग नहीं बनता कोई काल में नहीं बनता है भारत में सभी है बहुरत्ना वसुंधरा उसकी सवाल नहीं है लेकिन ये ज्ञानी पद बहुत बैठ ज्ञानी महीना मैं खुद को पहचान लिया बिना खुद के प्रयत्नों से नहीं बनता कृपा साध्य है खास करके ये कलयुग में और सतयुग में और द्वापर में भी एक कृपा साध्य था लेकिन आखिर कृपा आती है वो मेहनत करके साधन से क्रियाओं करते करते आगे बढ़ते रहते हैं क्या प्राप्त करना है कि मेरा साध्य है मुझे मालूम नहीं साध्य क्या है तो मैं क्या करूं इसलिए भक्ति करते रहते हैं मंदिर में जाते हैं फोटो रखते हैं और उसको ध्यान में रखते हैं कई कई प्रकार से ध्यान करते हैं कई बहुत प्रकार है समझे न लेकिन जो आखिर का ध्येय है हमारा आखिर का गोल है और वहाँ ये है और हम उनकी आराधना करते हैं ये आत्मज्ञान है स्वरूप ज्ञान है आत्मा स्वरूप ज्ञान है खुद का आत्मविषय सभी प्रकार का ज्ञान है जिसके कारण हमारा शरीर है प्रकृति है वो सभी प्रकृति के गुणों से हमें उसकी अच्छी पहचान मिल जाती है ऐसा दोनों का विभाजन हो जाता है वो ज्ञानी पुरुष कर पाते हैं आपका मन सर्वे का है तो मन और मन वो देह का है और देह का मन है तो मन के स्तर पर ज्ञानी पुरुष आपकी सर्जरी करते हैं जैसे देह के कई कई कारणों के लिए हम हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर लोग करते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष करते हैं उसके पास कोई हथियार नहीं कुछ नहीं कोई कटा नहीं जाता एक लहू का एक ब्लड एक ड्रॉप भी नहीं गिरता वो अलग कर देते हैं मन से और मन हमारे जाने में आना जाता है ऐसे आत्मज्ञान के प्रकाश में एक ज्ञानी पुरुष की कृपा है हमें बताया गया हमारे वडिल वडिल साहब कि यहाँ तो ये लोग इतने लेके बैठे हैं ताराचंद जी पवन कुमार ये संदीप वगैरह बताते हैं कि यहाँ तो हमारी पाँच पच्चीस संख्या है ऐसा क्या बताया मुझे ऐसी आत्मज्ञान लेने की कितनी है पाँच दस हाँ नहीं वो तो ये लोग बताए ना मुझे 200 बताई गई अरे भाई ये छोटा शरीर सकेला शरीर जरूर हम सबका अपनी इच्छा है पूरी करेंगे जरूर हम्म। बिल्कुल बोलो अच्छा 200 से ज़्यादा हमारे पवन जी बताते हैं कि 200 से ज़्यादा है लेकिन आप सबको मेरी एक विनंती है विनंती है कि यहाँ ये समय दो तीन चार तीन चार दिन आए हैं हम तो आपके लिस्ट है आपके पास लिस्ट है वो देना हमें तो करीब थोड़े को यहाँ एक प्रयोग कर लेंगे एक प्रयोग करेंगे प्रयोग आत्मज्ञान दीक्षा का क्या आत्मज्ञान दीक्षा घर से छुड़ाने की दीक्षा नहीं है वो तो कर्म से मुक्ति होने की दीक्षा है उसको स... नहीं नहीं ये बात नहीं करो उसको सही अध्यात्म के अर्थ में कर्म संन्यास बोला जाता है बहुत गहरा शब्द है लेकिन पीछे आपको समझ में आता जाएगा आहिस्ते आहिस्ते अब तो पुत्र आपको समाएंगे कर्म संन्यास बड़े कोई कोई किसी को ही होता है किसी को ही होता है इसी कारण हम कर्म से मुक्त हुए ऐसे इसके लिए महर्षि पातंजल जी उसका सारा सूत्र है कई कई प्रकार के फिर भी ये नहीं बनता आत्मज्ञानी जो अंदर से खुद के आत्मस्वरूप से सारा देह में प्रकाशमान है वैसे सारा प्रकाश में सभी के जगह है लेकिन प्रकाश हमें मालूम नहीं पड़ता ये उनकी प्रभाव है ज्ञान का प्रभाव है ज्ञान दर्शन की सम्य सौम्यता है हुँ? हम्म? वो हिमालय सर के स्थिर होते हैं ऐसा दुबला शरीर फिर भी स्थिर होते हैं हुँ? हम्म? और सागर जैसी गंभीरता उनकी होती है हुँ? हम्म? वो हंसते हैं फिर भी गंभीरता रहती है गंभीरता हम्म, मुंह करके बैठने गंभीरता नहीं बोलते <laughs> संसार ऐसे लेके नहीं है हम्म? संसार में गौर है व्यवहार है तो जरूर मौज करो लेकिन मौज शौक ही ना हो क्या बताया मौज शौक मत करना मौज तो है मनुष्य जो क्या करेगा वो तो करता ही शौकीन हो जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी ऐसा कभी ना करना और अभी किसी को प्रश्न करना हो तो करो हम अपनी अपनी एक दूसरे की बातों करें हम एक दूसरे को समझें पवन जी कुछ पूछना है हाँ दादाजी वो इंदिरा गुप्ता का क्वेश्चन है इंदिरा जी इंदिरा का क्वेश्चन है हाँ, इंदिरा का आप हाँ, बोलो क्या प्रश्न है मोक्ष क्या होता है अच्छा मोक्ष के बारे में बताएं इंदिरा जी पूछते हैं मोक्ष क्या है तो उनका उद्देश्य ही है कि आप सबको मालूम पड़े कि मोक्ष वे कल्पना नहीं है मगज की कल्पना नहीं है वो हकीकत है और मोक्ष वो कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ हम जावे लेकिन मोक्ष हमेरा स्वभाव है हमेरा आत्म स्वभाव वो खुद ही मोक्ष है लेकिन हम जानते नहीं हम खुद को हुँ? हम्म, जो खुद को जान ले तो मोक्ष तो अपने हथेली में है लोग कल्पना क्या है लोगों में समाज में सभी तरह से सभी धर्मों के कारण भी कि मोक्ष क्या है घर है घर है व्यवहार है कैसा हमें तो जो व्यवहार तो देखाने में आता है सुनना पड़ता है बोल से समझ से बुद्धि से मन से समझ में आता है तो मोक्ष ऐसे की जाए हमारे अनुभव में आनी है तो खुद का स्वभाव अनु खुद को अनुभव में आवे उसी को ही मोक्ष बोलते हैं वो चंदन का वृक्ष है चंदन का वृक्ष है चंदन तो सभी को पसंद है और चंदन ले जाने के लिए वृक्ष को काटता है तो वो कुआड़ी से काटता है तो कुआड़ी उसका रस वाली होती है और वो देखते हैं सुवास कहाँ से आती है तो कुहाड़ी से आती है अरे कुआड़ी सुवास वाली कैसी हो गई फिर भी वो कुछ इतनी वेदना होती है लेकिन मनुष्य को कितना वो उसके सही सुगंध का वो प्रदान करती है सबसे बड़ी त्याग भावना उसकी है लेकिन मनुष्य लोग हम है तो हम अपना पली फल खुल खाए सब कुछ करें और बाहर से भी लेके खा जाए सब कुछ और ये वृक्ष सब है आंबा का लाभ मिलता है वो खुद आंबा अपना आम खाया जाता है क्या नहीं नहीं किसी कोई कोई एक आंबा तो होगा जरूर बोलो ना भाई कोई एक तो होगा ना कि खुद खुद का खा जाए इंदिरा जी क्या बोलते हैं ये कैसे एक नहीं है <laughs> अरे भाई ऐसा मनुष्य जीवन है वो वृक्ष सिखाते हैं प्राणी सिखाते हैं सब सिखाते हैं हमें वैसे दत्तात्रेय गुरु जी थे क्या बताया वो इतने समर्थ योगी थे हुँ? हम्म? समर्थ योगी थे वो तीन जो शीर बताते हैं ना वो तो एक संज्ञा है वो संज्ञा कैसी है कि सात्विक राजसी और तामसी तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं और सभी वात पित्त और कफ वो सब लोग जानते हैं आप इसी प्रकार की प्रकृतियाँ हैं उसमें सभी में समभाव से रहे हैं ऐसी तीन उसको सो हमारे हिंदू शास्त्र में धर्मों में भी ये बताया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हैं इस कारण ऐसा बताया लेकिन दत्तात्रेय बोलते हैं तो मन से वाचा से और वर्तन से वो सभी देता देने का योग ही करते रहे हमेशा शरीर होते हुए भी देते ही रहते हैं और सभी को गुरु बना देते हैं सभी को प्राणी सब सभी को गुरु गुरु गुरु गुरु तो जो गुरु बनाता है और अपना जीवन निकालता है वो रक्षा वाला पूरा है कि गुरु रक्षा वाला है बताओ रक्षा वाला पूरा कौन है गुरु है या शिष्य बोलो शिष्य के गुरु है वो कैसा भी हो लेकिन उसको सिंसियरली रहो देखो उसका जो होना हो लेकिन हम रक्षित हो जाएंगे रक्षक पूरा रक्षक मिल जाएगा अब देखो लेकिन ये कलयुग में मुश्किल है ये करना बहुत मुश्किल है कहीं जात जात की भाग भाग की बातें वगैरह होती ही रहती है हुँ? हम्म? लेकिन गुरु कब गुरु बनता है कि उसके हाथ में लघुता की चल किल्ली रहनी चाहिए हम्म? लघुता की किल्ली कि वो कोई कितना उसका सम्मान करे साष्टांग करे कुछ भी करे क्या है करे फिर भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करना देखा ऐसा उसकी लघुता की किल्ली हृदय में है हुँ? हम्म? शिष्य का भी शिष्य है वो ही सही गुरु है और उसी को ही सदगुरु बताया क्या बताया और मुक्ति चाहिए तो सतपुरुष क्या बताया सद और सत में फर्क है सद महीना समाज में व्यवहार में हम मनुष्य के नाते हम सभी के साथ और खुद के साथ विवेकपूर्ण जीवन जीवे घर में जीवे और सबके साथ विवेक पूर्णता से व्यवहार करें विवेक मनुष्य का लक्षण है वो तो अद्भुत लक्षण है कोई भी हुँ? हम्म? जैसी बहनों है लज्जाशील होना उसका सबसे बड़ा आभूषण है क्या लज्जाशील होना એટલે આપણે રાજસ્થાનમાં તો બડી चली ચલી है આગે से लेकिन नज़रों में लज्जाशील होना है नज़रों में ऐसा नहीं कि देखते नहीं है लेकिन उसकी नज़र डली हुई रहती है तब ये तो रक्षित हो जाती है और पुरुषों का लक्षण क्या है कि बद्रिक बद्रिकता होना क्या बद्रिकता होना क्योंकि पुरुष में एक कलयुग में बद्रिकता की थोड़ी खामी है थोड़ी खामी है और वो आते जावे तो तो बड़ा अच्छा है हुँ? हम्म? सभी को तो मोक्ष कल्पना नहीं है मोक्ष हकीकत है वो हमेरा स्वभाव है हमेरा आत्मा स्वभाव है और आत्मा स्वयं स्वभाव से खुद मोक्ष स्वरूप है लेकिन उसका सही सम्यक ज्ञान मिलना बहुत ज़रूर है वो ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष से आपको प्राप्त होता है हुँ? हम्म, उनकी कृपा से वो कुछ करते नहीं उनका शरीर तो निमित्त बन जाता है और आपका पुण्य भाग्य उदय आ गया उसका समय आया तो बन जाता है काम हुँ? हम्म। तो चलो मोक्ष तो इंदिरा जी समझे ना और कुछ पूछना है अच्छा आगे कोई यहाँ कोई पूछने चाहते थे कोई दादाजी हाँ। कमला जैन का क्वेश्चन आया है हाँ जी कमला जैन का इंसान जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ फिर भी वो क्यों करता है उन्हें कमला कमला जैन मुझे देना मुझे दीजिए कमला जैन कौन किनका क्वेश्चन है कमला जैन हाँ आगे आ जाओ कहाँ है आगे आ जाए आगे आ जाए जरा संभाल के आना ये कैमरा वगैरह है हले नहीं ऐसा हाँ संभाल के बैठिए नहीं हम बीच में बैठ जाइए यहाँ ही बैठ जाइए हाँ, बस बस ए, ए, कैमरा नहीं अच्छा आइए आइए चलो आओ आओ अच्छा ठीक है ये कमला बहन प्रश्न है उनका कि इंसान जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ फिर भी वो क्यों करता है ऐसा क्यों होता है तो इंसान जानता है वो इंसान जानता है लेकिन इंसान में जो भगवान बसे हुए हैं उनकी जानकारी है वो जानने वाले हैं उनको इंसान नहीं जानता अगर इंसान जानने वालों को जान जाए तो उनका जानना सही ही होगा और शरीर से कुछ गलती भी होगी तो तत्क्षण और थोड़े समय के बाद उसे वो गलती मालूम हो ही जाएगी जब जानने वाला हो गया तो तो ये आत्मा का स्वभाव जानने का है और देखने का है हम शरीर के साथ है इसीलिए हम ऐसे बताते हैं कि जानने का देखने का स्वभाव आत्मा का है लेकिन वो आत्मस्वरूप ज्ञान हमें प्राप्त हो तभी ये बन सकता है वहाँ तक तो इंसान इंसान ही है अगर उसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसमें भगवान का पद स्थापित हो जाता है और भगवान का पद स्थापित होते ही उनका जीवन में देह के साथ सारा जीवन जाता है व्यवहारों में जाता संबंधों में जाता है सभी में उसका सारा भगवत जीवन भगवत प्रकार का जीवन अंदर से बनता रहेगा दिल से दिल से और आज का मत्था नहीं मानेगा फिर भी वो आसानी से वो दिल का मानता होता जाएगा लेकिन आज कलयुग है इसीलिए वो दिल का कोई मान माने ऐसा मत्था कहाँ है मत्था दिल को मनाता है अभी क्या करे साहब पवन जी बोलो ने आज का मत, मत्था क्या बोलते हैं राजस्थान में बोलो ने वही, वही, वही, हाँ? माथा पच्ची बोलते हैं ना नहीं आत्मा आपने बताया आत्मा सो परमात्मा है वो समझना वो बहुत समझने की योग्य है वो सही समझ उसमें जरूरी है वो तो सब लोग बोलते हैं भाई आत्मा सो परमात्मा इसीलिए हम परमात्मा का ध्यान करते हैं लेकिन बिना जाने उसका परमात्मा प्रकाश स्वरूप कैसा आप ध्यान कर सकती है और लाइए यहाँ बेचे बेचे बेचे जाए बैठ जाए यहाँ बैठ जाए बैठ जाए मैं करता हूँ हाँ। तो आत्मा सो परमात्मा जो बोला जाता है उसका अर्थ सही अगर समझ ले तो आपको आनंद होगा तो कभी ऐसा बोलेंगे नहीं लेकिन जो आत्मा प्रकाश परमात्मा प्रकाश स्वरूप है वो आत्मा जानने की हमारी इच्छा है ऐसा होना चाहिए आत्मा जानने की आत्मा तो सभी में है अब सभी में है ये सोने के गहना है कितनी प्रकार के गहने हैं लेकिन सोना तो एक ही है जो अलग अलग है सोना कई प्रकार के बनाओ आप ऐसा आत्मा सभी में एक ही है लेकिन ये प्रकृति रूपी स्वरूप है वो प्रारंभ से बना हुआ प्रकृति वो आपका अपना है वो खुद का बनाया हुआ है तो लोग मानते हैं भगवान ने बनाया अगर भगवान बनावे तो उसको इतनी मेहनत करना पड़े उसकी मेहनत करना पड़े उसको अंदर जाके उसको जन्म दिलाना पड़े क्या है भगवान की समझ है अपनी भगवान तो भगवान ही होता है वो तो जो खाली प्रकाश से जाना देख देख लेता है सबको मनुष्य का सभी बार कैसा है कैसा नहीं और अपने परमानंद स्वरूप में रहता है हमेशा क्योंकि भगवान का सुख का स्वयं स्वभाव है सुख और हम मानव इंसान सुख की धुन में फिरते रहते हैं कैसे कल्पना से जहाँ कल्पना की कि इसमें सुख है आता है लेकिन चला जाता है रहता नहीं है तो पीछे दुख आता है जो जो सुख के पश्चात दुख आवे वो सुख बोला ही नहीं जाता फिर भी इंसान उसके पीछे लगा ही रहता है लगा ही रहता है जैसा रेगिस्तान में क्या बोलता है वो जल दिखाई पड़ता है क्या बोले हाँ? सही सा ऐसा बोलते हैं तो बहुत प्यास लगे जाता है देखा अरे नहीं गिर जाता है और पीछे खबर और पीछे वापस जाता है और थोड़ा सा भाई जाता है तो आंखों में झंझन होके दिखता है ओ वहाँ जो ऐसा संसार में भटकते भटकते ये पाँव बाव सब खलास हो सब फिर भी जब उसको संसार व्यवहार में रहते हुए भी उसको ऐसा लगे कि व्यवहार है सब सुख सुविधा है और आज के ज़माने में सामान्य मनुष्य अलवर के महाराजा को जो सुख का उसका भाग्य में होगा होता था वो सामान्य मनुष्य के पास आ गया लोग आज सुख के साधन कितने हैं पवन जी सभी समुद्र को मिलते हैं सभी बहनों को रसोई बना में कितना साधन मिल गया नहीं तो पहला तो क्या क्या <laughs> चूल्हा <laughs> क्या क्या नहीं करना पड़ता था ऐसा ऐसा करते <laughs> हैं हाँ? हाँ अभी ये तो हुआ नहीं मशीन में डालो हो गया सीधा हाँ पकाना डालो स्टीम फट हम्म। तो फिर भी अंदर दुखी है हम देखते हैं सब दुख ऐसा है कि खुद सह नहीं पाता और किसी को बता नहीं पाता इस कैसी इंसान की स्थिति हो गई है सबका अनुभव है किसको बतावे किसको बतावे और बताने के जाए तो उसका लाभ उठाएगा वो <laughs> इतनी पजल पजल सम कोयडा कोयडा स्वरूप है सारा जीवन समझ गए ना आप तो जो आत्मा जिसने परमात्मा प्रकाश प्राप्त हुआ है अनुभव आत्मज्ञान से अनुभव हो से ही उसका लक्ष्य बीतते ही अपना परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश खुला हो जाता है अंदर शरीर के अंदर बुद्धि के सामने वो प्रकाश खुला होता है प्रज्ञा प्रकाश बोलता है प्रज्ञा समझ गए ज्ञ शब्द प्रकाश का सूचक है ग्र ज्ञानी ऐसे बोलते हैं विज्ञान वगैरह प्रकाश का सूचक है समझे ऐसा जो रू ऋषि बोलते हैं तो रू शब्द हमेरा मनुष्य में अपना हृदय में रुजु भाव होना जरूरी है उसका सूचक है और ऋषि लोग कई कई तपस्या करके ऐसे होते हैं तो दिखावे में सबके होते हैं लेकिन कभी ऐसा कर्म का उदय आता है तो श्राभ्य ही श्राप दे देते हैं हम्म? दुर्वासा मुनि कितने प्रखर थे सारा पुण्य कैसा हो जा कैसा दे हो गया वो ये क्या है कि अज्ञानता कारण है लेकिन अज्ञानता से मुक्त होने के लिए ये सब क्रिया होती रहनी है लेकिन जब क्रिया होती है तो वो क्रिया के हमसे होती है या हम करते हैं उसका वेद ज्ञान मिल जावे तब मनुष्य सुखी हो जाता है ये मन में विचार आता है हम विचार करते हैं या वो विचार से हम अलग है उसका ज्ञान मिल जावे तो सब सुखी हो जाएगा होता है होगा आगे आपकी इच्छा है हाँ, बोलो ने नहीं वहीं बैठ के बोलो आत्मज्ञान की इच्छा है हाँ हाँ बोल ना भाई आने आगे आने आगे आने दो तू बैठ बहन हाँ बैठ दुख है ना दुख निकल जाएगा यहाँ बैठ यहाँ आ गया बैठो तो ऐसा बैठो नहीं उसके पीछे अच्छा बस बस बस ऐसा ऐसा ऐसा पीछे बैठ के थोड़ा ही बाजू बैठो बस हाँ ये तो विवेक होना ही है मेरा ठीक है आपको अज्ञान का इच्छा है लेकिन हाँ, मैं लिख लिखवा लेता हूँ भाई लिखवा लेना लेकिन वो क्या हम दे सकते हैं हम ज्ञान दे तो उसमें कुछ देता कुछ देगी कि नहीं हम कुछ तो देनी चाहिए ना अरे फल बोलो फ्रूट बोलो एक पाखड़ी रखो कुछ तो अगर मैं आदेश करूंगा तो नहीं दे पाएगी समझ ले पक्का हाँ मेरे मेरे आदेश में बंदी जाएगी आप और मैं मेरा स्वभाव किसी को और मेरा स्वभाव किसी को बंधन में डालने का है ही नहीं आपको बंधन से छुड़वाने का मेरा स्वभाव है तो आप मेरे पास कैसी किस ढंग से आएगी दो चीज़ चाहिए मुझे बहुत सस्ती है बहुत सस्ती है उसमें पर्स पैसा खर्च नहीं होगा कुछ नहीं हाँ मैं बताऊं दो चीज़ क्या है ध्यान से सुन आंखों बंद करके आंखों बंद करके ऐसे ज्ञान लेने के जाते हैं तो कैसे जाते हैं परम विनय से क्या बताया परम विनय से परम विनय कहाँ होता है जहाँ भगवान का प्रकाश खुला है वहाँ अर्जुन आखिर कितना कितना समझ के बाद समझ गया ओ विराट स्वरूप इतने नज़दीक थे मैं देख नहीं पाया समझ अरे वाह और भगवान समझ के कभी ये लोहे का सली गर्म हुई है तो भगवान ने फटकारा उसको समझ भगवान समझते थे को नहीं लड़ पाएगा इमीजिएटली उसको तत्क्षण दिव्य चक्षु प्रदान किए दिव्य चक्षु क्यों क्यों समझेगा कि अर्जुन में लड़े वाला मैं अर्जुन नहीं हूँ दरअसल में मैं कौन हूँ उसकी दिव्य चक्षु से मालूम हो गई और इसीलिए वो कृष्ण ने आखिर उसका उद्गार निकल गए कि नष्टो मोह बोलो नष्टो मोह स्मृति लब्धा अरे आपका वचन जो है मैं करूंगा ऐसा वो अर्जुन बोलता है भगवान को भगवान का क्या कल्पना की है भगवान को क्या होता है बड़ा बड़ा मुख बच्चा होता है क्या भगवान जानना चाहिए ना भगवान क्या है वो भक्त शब्द आत्मा के अनंत गुणों की धातु सूचक एक शब्द है भक् भक्त बोलते हैं और ऐसा गुणों वाले जो मनुष्य शरीर में भगवत व्यवहार से जीने वाला है उसको इतना भगवान पद उसको प्रस्थापित होता जाता है जैसा लक्ष्मी नहीं है और लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी जरा ज़्यादा आई तो बोलते हैं ये धनवान है क्या और ऐसे जहाँ जहाँ वान शब्द लगे ना वो प्रकृति का है और भगवान का दोनों का है तो भगवान के शब्द में तो भगवान के गुण ही होना चाहिए वहाँ प्रकृति नहीं चलती और भगवान पुरुष है क्या बताया बोलो अरे आप लोग बोलो भगवान पुरुष है हाँ लेकिन आपको देह स्त्री का है बोलता है मेरी आत्मा बोल देते हैं गुजरात में हम बोलते हैं मेरा <laughs> नहीं बोलनी पड़ती है क्योंकि प्रकृति साथ में है प्रकृति साथ में है देखो शब्द का ज्ञान कितना गहरा और अच्छा है कि भगवान की भी सही समझ दे सकता है वो समझे तो परम विनय पहला अर्जुन इतना नज़दीक था भगवान उसके साले थे <laughs> सब जानते हैं हाँ तो वो पीछे नमा अरे बो, अब बोलो मैं करूँगा तो भगवान मौन रहते हैं अभी तेरी समझ में ऐसा कर दो तो अर्जुन पीछे लगा दिया तो धनुष लगा दिया चलो और भगवान ने बताया तू जानता है तू उसको मारेगा तू उससे मरेगा वगैरह तेरा गुरु है महागुरु है ज्ञानी है भैया भतीजे सबके सखा वाले लेकिन मैं उस साइड ये साइड को ये बाजू को दोनों को युद्ध की दोनों दिशा में मैं सबको सभी मरा हुआ देख मेरे नज़र मेरे प्रकाश में ज्ञान में है क्या बताया वो जिंदे एक दूसरे को जान लेने वाले है फिर भी मरा हुआ बताया क्यों बताया क्यों बताया आपके राजस्थान में बड़ी माजियाँ बोलती है बच्ची को हैं हाँ? अरे पांसरी मर ऐसा कुछ बोलते हैं हमारे गुजरात में बोलते हैं ऐसा सुना है कुछ मुई ऐसी <laughs> अरे <laughs> मुई क्यों बोलता है वो तो मरी हुए उसको मुई बोलेगा <laughs> लोग मानते हैं कम जीते हैं नहीं ये हर दम हर श्वास में मरते रहते हैं तो जन्म पाया है वो जन्म जाने के लिए पाया है जन्म ऐसा होना जिसे जाने का नहीं होता समझे ना उसको ज्ञान दीक्षा बोलते हैं आप समझे ज्ञान दीक्षा और ज्ञान दीक्षा के पश्चात हमारा जन्म होता है अंतर में ज्ञान प्रकाश का भगवान भगवत प्रकाश का वो जन्म ऐसा होता है उसको अजन्मा अमर पद बताया क्या बताया बोलो अजन्मा अमर पद अजन्मायु की वो कभी भी कभी भी मरण अवस्था को प्राप्त नहीं होगा ऐसा आत्मज्ञान इसलिए शुरुआत होती है तो जन्म तो बोलना ही पड़ेगा लेकिन एक कलयुग में सीधा नहीं नहीं जाता तो भाई एक दो अवतार होते अचप निकल जाता है वो नहीं तो अभी तो ठिकाना ही नहीं अपने जितना शौक है उतना पूरा करना ही पड़ेगा तो पूरा होता ही नहीं जो उसको पूरा करने पड़ेगा कभी पूरा नहीं होता ये क्या समस्या है साहब शौक तो बहुत करना है <laughs> वो पटरी है नीचे खुली है ऊपर डालते जाओ कहाँ चला जाता है वो सब <laughs> ये अपना खोजरी है ना ऐसा खड्डा है क्या करे <laughs> समाधान होता ही नहीं डालते जाओ फिर भी हाँ, हाँ तो एक परम भी नहीं उसकी कितनी कीमत है बताओ एक रुपया पैसा में कितने में बोलो परम विनय की कितनी कीमत है अरे कीमत ही नहीं ले तो। ले वाह तो आने के समय इसी इस ढंग से आना हम ऐसा नहीं बोलते ऐसा करो लेकिन दिल से ऐसा आना और दूसरा एक बड़ा ज्ञान देगा हम आपको वो ज्ञान लेके आना तो मैं जो ज्ञान दूंगा आपको तो अंदर टिकेगा वो एक है बताओ बोलो क्या नाम कमला जैन कमला जैन तो ठीक है अटक है कम मैं कमला कुछ जानती नहीं बोल मैं कमला कुछ जानती ये सबसे बड़ा ज्ञान है ऐसा करके आना मेरे पास दिल से तो मैं ज्ञान दू वो सही ठहरेगा नहीं तो तू तेरा भरा हुआ लाएंगे मैं डालूंगा नीचे गिर जाएगा मेरी मेहनत कर जाएगी <laughs> हम्म, हम्म। देखेंगे तेरा समय आएगा तो सब समय मेरे पास नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ मिल जाएगा जा यहाँ मिले कहाँ मिले हैं मैं नहीं जानता ये मेरी जानकारी है ही नहीं और मुझे जानना ही नहीं चाहता लेकिन मिलेगा हम जहाँ हैं वहाँ आना पड़ेगा तेरे को बोल हम्म हम तो कम आए तो कहाँ भी होंगे हिमालय के शिखर पर जाएंगे तो, तो आशीर्वाद नहीं देखो यहाँ तो इतने सारे लोग हैं संख्या इतनी ज़्यादा बताते हैं तो आपका लिस्ट एक बनाओ तैयार है दादा भगवान से करेंगे उसके लिए ये हॉल में हम प्रयोग करेंगे वो इतना ही कोई ऐसा मत सोचो कि उनको मिला हम रह गए ऐसा मत सोचो आप बाकी के सबको पवन जी पवन जी आप सबको एक व्यवस्था करके हम केलनपुर दादा भगवान की समाधि है वहाँ आते हैं अभी मैं तो मेरे में तो अनंत शक्तियाँ हैं लेकिन इस ब, वो तो, तो पवन जी और ताराचंद जी और यहाँ के जो वलीलगंज जो आपको बन के उसको व्यवस्था करना लेकिन पचास साठ साठ के ग्रुप में आना तो अच्छा आपको रहेगा अरे कभी पाँच दस आए तो हरकत नहीं पर आ जा रहा आपके जो संख्या पूरी कर लेंगे शायद मंजूर है आपको स्वामी जी आप स्वामी जी कहाँ गए स्वामी जी आप दोनों को हैं हाँ? तो अनुभव क्या किसको कहते हैं तो बताओ ने बताओ है कि नहीं के मुखपाट तो लाओ देखो सुनो ध्यान से जब अनुभव आत्मा अनुभव की बात करते हैं ना हम तो सुनो ये कविराज का पद है दादा भगवान से वो दीक्षित हुए और उनकी कृपा अद्भुत उनके प्रति गला बड़ा अच्छा था कवि तो सहज भाव से ये आत्मा का विज्ञान स्वरूप के सभी रत्नाएँ निकली हैं बड़ी अद्भुत है वो आत्मा क्या प्रकृति क्या अनात्मा भाग क्या दोनों का विभाजन करें समझ में आवे ऐसा है अभी ये थोड़ा भाइयों में लो थोड़ा बहनों में दो अभी आगे भी सबको तो नहीं पहुँचेगा हम्म? थोड़ा थोड़ा जय जो जुने हैं मत लेना वो सब थोड़ा बयानों में जिसको ज़रूर है पढ़ सकते हो लोग जो पढ़ सकते हो तो दो लाओ सर बोलो ये राजस्थानी तोहफा हमें मिला है जय राजस्थानी तोहफा मिला है हमें राजस्थानी तोहफा ये अलवर तोहफा है कि कौन सा है? हाँ? हाँ। अलवर का एक दूसरा आता नहीं है ईसा नहीं, नहीं।, नहीं। चलो अनुभव कहता है हमको अनुभव कहता है गलती देखो दूसरों की गलती न देखो दूसरों Sunday. कहाँ मिल गई क्रोध को खुरा की तन मन में ज्वाला देखो तन मन में ज्वाला ಜೀವದೇಕೋ जा खुद भोगो भूल है तो सजा खुद भोग रट से निकलना सीखो झंझट से निकलना सीखो सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मुमुक्षु महात्माओं और मुमुक्षु सभी एक आज श्रीमंदर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक बोलते हैं ऐसे तीर्थंकर भगवंत ये अवसर्पिणी अर्थात उदलता काल में आए सारा काल चक्र के उसमें 24 तीर्थंकर भगवंत हुए वैसे महावीर भगवान आखिर के 24 में थे आज ये हज़ार आगे वर्ष के आगे उसका जन्म का है कि जन्म का तो सभी तीर्थंकर का हिसाब से ही ये पद होता है पर ये पद जन्म कल्याण के कारण से बना है कविराज से वो हमें राजेश लाकड़ा वाला जी जो है अपने महात्मा ज्ञानी वो ये सब उन्होंने बनाया है वो बहुत वो उसका इंजीनियर है और सबका इंटीरियर डेकोरेटर भी है सूरत में ये सब उनका बनाया हुआ है पूरा उनका सारा स्टाफ लेके और ये पद बोलते हैं चलेगा आपके पास है पद तो हाँ। तो ध्यान से सुनना बड़ा मजा का है और आप हम जिलेंगे भी चलेगा हाँ जी दादा दादाजी ये कहना चाहते हैं जैसे सभी पवित्र परमात्माओं का जन्मदिन मनाया जाता है एक अभी अभी भगवान महावीर स्वामी का कल्याणक का कल्याणक का अर्थ है कल सभी का कल्याण करने वाला बिना कुछ किया है बिना कुछ किए उनका देह ही ऐसी है इसलिए ऐसा जन्म कल्याण को जो जाता है और महावीर भगवान का जन्म कल्याणक के दिन का उसी प्रकार आज जन्म कल्याणक दिन है अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी का तो उसी आज जन्म कल्याण के अवसर पर एक ऐसा भक्ति का जो हमारे दिल में भी तीर्थंकर भगवंतों के प्रति सद्भाव एक भाव, अनेरा हमारा भाव खड़ा कर सके ऐसा एक भजन एक भक्ति का भावना जन्म पाएगी हमें हाँ। भावना हमारे भीतर प्रकट कर दे वो पद हम वो गाएंगे हम सबको झीलना है सब वो त्रिशला माता की जगह सिमंदर स्वामी की माता जी बता दो नहीं मालूम है आप चलो छोड़ो बोलो बोलो सच्चिदानंद निमेश भाई चलो ऊपर आ जाओ भाई बैठ जाओ चढ़ जाओ ऊपर हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो उनका आ जा पद में करके पीछे ये पद के पश्चात हम मंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे और उस स्वामी की माता का नाम सत्य की सत्य की सत्य की ऐसा करो समझे ने हाँ। आज को नहीं होगा ना क्या आज तो नहीं लेकिन फिर से होगा जाइए पीछे होगा वो स्वागत भाषण था मुझे पढ़ना था लेकिन अब समय नहीं मिला कोई बात ऐसी बात है ना इतने लंबे से आया है इतने सब लोग हैं ना तो उसका पार नहीं बैठते हैं हाँ, बैक पेन है ना तो आप जाइए चि- चिंता मत कीजिए नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं आलोक जी जाइए मैं आपके साथ हूँ हाँ जी શું કહે છે अभिनंदन पत्र ऑडिटोरियम में जरूर पढ़ेंगे 16 तारीख हाँ, जरूर जरूर जरूर जरूर जाइए जय सच खूब आशीर्वाद खूब आशीर्वाद मैं आपके साथ हूँ हाँ संभालना जय सच्चिदानंद अभी ध्यान से सुनो ये भी छोड़ने सूर्य चंद्र ताराओ ना सूर्य चंद्र ताराओ ना बहु दूर आवास छे बहु એક સારી માથ કીધો વિશ્વનો જાસ છે વિશ્વનો જાસ છે સંસ્કૃતિના વિદ્યાલય છે ન્યારા să videale ce ne arată. Namo सिमंदर स्वामी परमात्मा की माता जी थी ये बोलते हैं पाणु झुलाती है चलो सिमंदर पोड़े रे सब संबंधो त्यागी आप हमको आपका संसार छोड़ाने वाले नहीं है ज्ञान दीक्षा में समझ लो ना पूरा संसार रहेगा संसार मेरा घर और घर के व्यवहार हो लेकिन जिससे हम बंधे हुए वो उससे छुड़ाएंगे क्या कौन सा बंधन से हम बंधे हुए तो कि हमारे स्वरूप के बारे का अज्ञान अज्ञान और सारा वेदांत में ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या नड़तर रूप है तो के मल विक्षेप और अज्ञान सारा जैन दर्शन में हमें मुक्ति पाने के लिए क्या अर्थ क्या क्या अर्चन स्वरूप है तो के राग द्वेष और अज्ञान मार्ग एक ही है सभी का लेकिन सभी अलग ढंग से बताया है यहाँ राग द्वेष से मुक्ति होनी है और ये ये सारा जीवन और सभी धर्म कर रहे हैं हकीकत में अज्ञान से मुक्ति होते ही हम राग द्वेष से अज्ञान के प्रकाश में अज्ञान के ज्ञान दीक्षा के कारण हमें मुक्ति मिल जाती है और हमें सारा जीवन में ऐसी जीवन मुक्त दशा से हमारा जीवन सभी व्यवहारों के साथ जाता है सभी व्यवहारों के साथ ये व्यवहार दीक्षा व्यवहार के साथ वाला आत्मज्ञान की है और हमेशा कर रही है लेकिन कार के संदर्भ में कार बदलाव होता है युग बदलाव होता है तो द्वापर युग में ऐसा था आज कलयुग में ऐसा नहीं है यही सबसे बड़ी दादा भगवान की देन है परमात्मा प्रकाश की और आज ये शरीर उसका निमित्त बन रहा है और आपका जो पुण्य का योग है वो पुण्य का योग के निमित्त से ये शरीर और शरीर के माध्यम से अंदर की परमात्मा प्रकाश की दादा भगवान की कृपा आपके सफर होगी और आपका कर्म पापों भस्मीभूत हो सकता है गीता जी में स्पष्ट बताया है कि केवल एक ज्ञानी पुरुष सर्व कर्मों का पापों पा पाकोपों का बस गोटो गोटा करके बस विभूत कर सकते हैं वो ज्ञानी की समर्थता है एक ज्ञानी जो कर्ता भाव से समर्थ नहीं है कुछ करने वाला नहीं है इसीलिए वो सर्वसमर्थ है वो आपको ज्ञान में मालूम हो जाएगा जिसको तो आप एक तो एक बेस तो आज होती होगी जो बुलाएंगे उसका नाम की बाकी का सत्संग हॉल में आप जमा होंगे कल कल है तीन चार तीन दिन है ना दूसरा तीन दिन है पूरा सत्संग ये सब आप तो पुत्र आपको सभी प्रश्नों का जो समस्या आपको लगती है उसकी सब उलझने समस्या समाधान करवाएंगे को बरबते रहना क्या तो बाकी के लोगों को थोड़ा वहाँ आना पड़ेगा एक एक बैच में ऐसा पूरा सबको कर देंगे तो मेरा आप सबको सब आशीर्वाद है और अभी प्रसाद लेना है किसकी समझा लो लेकिन कोई समझा दो नहीं देख बे बहन ये मेरा तेरा बच्चा है ना उसमें थोड़ी एक कर्म की खामी है आ जाएगा घबराना नहीं मैं उसकी विधि करता हूँ सुनील नाम है ना घबराना नहीं तू भगवान से प्रार्थना करते रहना माता जी प्रार्थना करना इतना करना और बाकी का मैं विधि करूँगा हाँ ले उसको दो सुनील ठीक है हम तन तीन मंत्र बोलेंगे और छोटी सी प्रार्थना बोल लेंगे पीछे जो प्रसाद मिलेगा हमें तो भगवत प्रसाद इस दिन से लेंगे तो उसका सही आपको लाभ मिलेगा નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિયંતાણમ નમો અરિયંતાણ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સવસાવણમ નમો લોય સવસાવ એસો પંચ નમુક્કારો એસો પંચ નમુક્કારો સવ પાવપણાસણો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવેસીમ મંગલાણમ ચ સવેસીમ પરમમ હવે મંગલમ परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे अंतर्यामी परमात्मा हे अंतर्यामी परमात्मा आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है आप दरेक जीव मात्र के अंदर विराजमान है वैसे ही वैसे ही हमेरे भी अंदर भी विराजमान है हमें अंदर भी विराजमान है आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है हे शुद्ध आत्मा भगवान हे शुद्ध आत्मा भगवान हम आपको हम आपको अभेद भाव से अभेद भाव से अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं अज्ञानता के वर्ष अज्ञानता के वश हमसे जो जो भूले हुई है हमसे जो जो भूले हुई है मन से वाचा से काया से मन से वाचा से काया से वो सभी भूलों को वो सभी भूलों को हम आपके समक्ष रखते हैं हम आपके समक्ष रखते हैं और उनके और उनके लिए और उनके लिए हम हृदय से पछतावा करते हैं हृदय से पछतावा करते हैं और आपके पास क्षमा याचना करते हैं और आपके पास क्षमा याचना करते हैं हे प्रभु हे प्रभु हमें क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो मुझे क्षमा करो क्षमा करो और फिर से वैसी भूले ना करे फिर से वैसी भूले ना करे ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो ऐसे आप हमें शक्ति प्रदान हे शुद्धात्मा भगवान हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करो आप ऐसी कृपा करो जिससे जिससे हमें हमें व्यवहार के सभी भेदभाव छूट जाए व्यवहार के सभी भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त प्राप्त हो और अभेद स्वरूप प्राप्त हो हम आपके अंदर हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे अभेद स्वरूप से तन्मय आकार रहे जय सच्चिदान जय सच्चिदान यही है मेरा आत्मा स्वरूप है जय सच्चिदान जय सच्चिदान बोलो भोजन जय सचिदान सभी को